परमात्मा का स्मरण ज्ञान स्वरूप ज्ञान के देने वाले परम पिता परमात्मा प्राणावत ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति ईश्वर को विभिन्न रूपों में संबोधित करता है भक्त कभी कभी कुछ शब्दों को लेके उसे संबोधित करता रहता है हमारे संबोधन में परमात्मा का स्वरूप भी छिपा रहता है परमात्मा को हम किस रूप में देख रहे हैं जान रहे हैं हमारी वो भावना परमात्मा को किए गए संबोधनों में प्रतिध्वनित होती है लक्षित होती है लेकिन साधक यदि थोड़े से शब्दों को लेकर चलता रहे तो उसका मतलब है वो परमात्मा को कुछ सीमित रूप में मानते हुए चल रहा है एक आर्य के मन में भक्त के मन में ईश्वर के प्रति कितनी व्यापकता होनी चाहिए उसको अभिलक्षित करते हुए महर्षि दयानंद ने आर्य विनय के प्रत्येक मंत्र में परमात्मा को बहुत से संबोधन दिए हैं नए नए संबोधन और प्रथम मंत्र की व्याख्या में तो एक साथ बहुत सारे संबोधन दिए हैं उन्हीं संबंधों को हम क्रमशः देख रहे हैं परमात्मा को क्या संबोधन करना चाहिए आज जो संबोधन हमारे ध्यान का विषय बन रहा है वो है हे अविद्यांधकार निर्मूलक हे परमात्मा आप अविद्या अंधकार के निर्मूलक हैं अविद्या का मतलब है विपरीत ज्ञान जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना जानना ये है विद्या और जो चीज जैसी नहीं है वैसा समझ लेना ये है अविद्या हमारे साथ जीवन में ऐसा होता ही रहता है कभी हम ठीक जानते हैं कभी विपरीत भी जानते हैं परमात्मा अविद्या रूपी अंधकार का अविद्या अंधकार अविद्या हमारे मस्तिष्क का अंधकार है जैसे लोक में प्रकाश न हो तो अंधकार प्रतीत होता है ऐसे ज्ञान के स्तर पर जब अविद्या होती है विपरीत ज्ञान होता है अथवा ज्ञान का अभाव होता है ये अंधकार रूप है इसलिए कहा हे अविद्या अंधकार अविद्या के अंधकार अविद्यारूपी अंधकार का निर्मूलक उसको निर्मूल करने वाले मूल का मतलब है जड़ किसी पेड़ को समाप्त करना हो तो जड़ सहित जब समाप्त करते हैं तो कहते हैं इसको निर्मूल कर दिया इसकी जड़ भी समाप्त कर दी अब आगे ये अंकुरित नहीं होगी यह फिर से बढ़ेगा नहीं पौधा पूर्णतया समाप्त करने को कहते हैं निर्मूल कर देना तो परमात्मा अविद्या रूपी अंधकार का निर्मूलक है जड़ से समाप्त करने वाला है इस संबोधन से जुड़ा हुआ एक अगला संबोधन और महर्षि ने दिया है विद्यार्क प्रकाशक हे परमात्मा आप विद्या रूपी अर्क के प्रकाशक विद्या यानी शुद्ध ज्ञान यथार्थ ज्ञान और अर्क कहते हैं सूर्य को यहां भी उपमा दी गई है उपमा देते हुए बात को समझाया जा रहा है अर्क प्रकाशक सूर्य के प्रकाशक जैसे इस भौतिक सूर्य का प्रकाशक परमात्मा है ऐसे ही विद्या रूपी सूर्य का प्रकाशक भी परमात्मा है तो हे विद्यार्क प्रकाशक विद्या रूपी सूर्य के प्रकाश करने वाले परमात्मा जो ईश्वर को स्वीकार कर चुके हैं वे ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य ज्ञान को भी स्वीकारते हैं सृष्टि को देख करके परमात्मा को स्वीकारते हैं और ये सृष्टि इतनी अद्भुत विचित्र बनी है उसके पीछे अत्यंत ज्ञानी समझदार कोई चेतन है ये भी हमें अवगत होता है तो परमात्मा को ज्ञान स्वरूप अत्यंत ज्ञान वाला हम स्वीकार करते हैं यहां जो दो संबोधन दिए गए कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है लेकिन उसके ज्ञान का हमारे साथ में क्या संबंध है एक सामान्य संबंध तो ये हम समझ लेते हैं प्राय कि उसने अपने ज्ञान से हमारे हित के लिए इस सृष्टि को बनाया है हमारे कर्मों को जान रहा है वो हमें फल प्रदान करता है लेकिन वो हमारी अविद्या को भी हटाता है और हमारे अंदर ज्ञान को भी उत्पन्न करता है हमारे से जुड़ा हुआ संबंध इन दो संबोधनों में दिया गया है आज के युग को इस इक्कीसवीं शताब्दी को ज्ञान का युग कहा जाता है विविध ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं नए नए यंत्र सुविधाएं आ रहे हैं जैसे कि ज्ञान का विस्फोट हो गया हो इतना ज्ञान कि वर्ष भर में न पढ़ा जा सके इतना प्रतिदिन अनुसंधान हो रहा है नई नई बातें केवल पढ़ तक नहीं सकते इतनी नई नई बातें आती जा रही और वो हमारे से बहुत सी संबंधित हैं उनके आधार पर हमारे जीवन में कुछ सुख सुविधा लाई जा रही है कुछ दुख दोष दूर किए जा रहे हैं जीवात्मा ज्ञान का इच्छुक सदा से रहा है आत्मा चूंकि चेतन तत्व है ज्ञान की पिपासा जानने की इच्छा उसकी मौलिक इच्छा है आत्मा चेतन है ज्ञानवान है लेकिन उसका अपना ज्ञान तो नगण्य प्राय है लेकिन जानने की इच्छा उसकी अदम्य है सदा बनी रहती है और शरीर इंद्रियों को प्राप्त करके वो जानने की इच्छा में लगा ही रहता है विशेष रूप से मनुष्य उत्पन्न होते ही बच्चा देखने समझने जानने लगता है वो प्रयत्न ना भी करे विशेष तो भी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि उसको जानना ही पड़ता है जानने ही लग जाता है वो जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसे ये पता नहीं है कि मुझे जन्म लेकर के कुछ जानना है उसे नहीं पता है कि कोई रूप होता है और मुझे उसे देखना है कोई भोजन होता है जिसे मुझे खाना है उसे कुछ नहीं पता है लेकिन जन्म लेते ही परमात्मा के द्वारा ये व्यवस्था की गई है पहले से विद्यमान है कि वो देखने सुनने चखने लगता है संवेदनाओं को ग्रहण करने लगता है भूख प्यास को अनुभव करने लगता है सुख दुख को अनुभव करने लगता है उसका प्रारंभ ज्ञान से होता है जन्म होते ही प्रारंभ संवेदना से होता है और जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जागते हुए जहां की वो किसी क्षण न जान रहा हो भोजन हम कुछ देर करते हैं सोते हम कुछ घंटे हैं पानी हम कुछ देर पीते हैं कभी कभी पीते हैं लेकिन हमारी प्राप्ति ग्रहण ज्ञान के विषय में सतत हो रही है लगातार बनी हुई है ये अलग बात है कि वो ठीक है या गलत ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म है वो जानना चाहता है और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं परमात्मा की हम सतत जानते रहते हैं और जानने की इच्छा अपनी अपनी रुचि के अनुसार सतत बनी रहती है यदि ये इंद्रियां ना हो एक एक इंद्रिय को हटा करके देखें तो उसी वस्तु का ज्ञान हमें कम होगा मिथ्या होगा पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जब उस वस्तु को जानते हैं तो अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं ये परमात्मा की व्यवस्था है इस रूप में परमात्मा ज्ञान उत्पन्न करने में सतत सहयोगी है बुद्धि उसने प्रदान की है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अज्ञान विपरीत ज्ञान हमारे अंदर और अन्यों के अंदर विद्यमान है इतने वर्ष हो गए हमें जानते सुनते समझते विचारते लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है मेरे अंदर कोई विपरीत ज्ञान नहीं है ये हम नहीं कह सकते आज हम ही नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इस एक विषय में पूरा ज्ञान हो गया और वो ये दावा नहीं कर सकते कि ये जो ज्ञान आज उपलब्ध हुआ है इसमें कुछ वर्षों के बाद में किसी अनुसंधान से परिवर्तन नहीं होगा कितना ज्ञान विज्ञान जिस पर नोबल पुरस्कार मिला उस अनुसंधान पर और आगे के नोबल पुरस्कार विजेता आगे के वैज्ञानिक उन्हीं को असत्य भी सिद्ध कर रहे हैं और उनको भी नोबल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है वैज्ञानिक ये अनुभव करता है कि आज जो मैं जान रहा हूं हो सकता है ये आगे असत्य सिद्ध हो जाए अर्थात अज्ञानता की संभावना मनुष्य में सतत बनी हुई है दुनिया में कितना भी ज्ञान का विस्फोट हो गया हो कितने भी वैज्ञानिक हो उन सब ज्ञानों को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकते कि अज्ञान समाप्त हो गया और ज्ञान का सूर्य उदित हो गया ये दावा कर ही नहीं सकते एक सामान्य व्यक्ति भले ही ये कल्पना कर ले कि वैज्ञानिक और ये बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक मिलकर के तो अज्ञान को समाप्ति कर देंगे लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि क्या सत्य दृष्टि कि अविद्या अंधकार का निर्मूलक यदि कोई है तो वो मात्र परमात्मा है हम कितना भी प्रयत्न कर लें पूर्ण अज्ञान हटा नहीं सकते ईश्वर के प्रति इस धारणा को लेकर के आर्य चलता है और वो संबोधन करता है हे अविद्या अंधकार निर्मूलक और विद्यार्क प्रकाशक जिस चीज को हम सबसे अधिक ग्रहण करते हैं सदा ग्रहण करते हैं उसका मूल स्रोत परमात्मा है परमात्मा को हटा करके जब हम अविद्या को हटाने का प्रयत्न करते हैं विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो एक सीमा तक और बहुत दूर तक हम बहुत कुछ जान लेते हैं समझ लेते हैं लेकिन जिस अविद्या के हटाने की बात यहां छुपी हुई है इस संबोधन के पीछे वो केवल परमात्मा हटा सकता है इस संसार को वैज्ञानिक या अन्य व्यक्ति कितना भी जान ले यदि वेद अर्थात ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान ना हो अथवा उस परंपरा से प्राप्त उपनिषदों का दर्शनों का ज्ञान ना हो तो इस बात को कोई नहीं जान सकता कि ये जीवन क्यों चल रहा है वैज्ञानिक जीवन को खोज लेते हैं इसमें जीवन है इसमें जीवन नहीं है जीवन चलने के लिए ये वस्तुएं आवश्यक हैं ऐसे रहना चाहिए ऐसा नहीं रहना चाहिए इत्यादि अनुसंधान हो सकते हैं रोग हो तो ये औषधि ली जा सकती है संसार के जड़ पदार्थों के लिए वो बता सकते हैं ये वस्तु इस इस काम में आती है इसका ये ये उपयोग हो सकता है एक सीमा तक लेकिन इस जीवन का क्या उपयोग है इस जीवन का क्या लक्ष्य है इस विषय में विज्ञान की शैली से कभी हम नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हम कितना भी देखें सुने समझें इस निष्कर्ष पर हम कभी नहीं पहुंच सकते कि जीवन का लक्ष्य क्या है यदि केवल बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से जानते समझते रहे तो इनसे जो सुख प्रतीत होता है दुख की निवृत्ति होती है स्थूल जगत में मात्र वो ही हमारा लक्ष्य बना रहेगा इसके आगे हमारा निर्णय हो ही नहीं सकता और यही कारण है कि ईश्वर को छोड़ के जो वैज्ञानिक इतने तत्परता से लगे हैं प्रखर बुद्धि वाले हैं विशिष्ट साधनों से युक्त हैं करोड़ों खरबों डॉलर उनके लिए लगे हुए हैं तो भी इस विषय को वो या तो उठाते नहीं हैं या अनुत्तरित छोड़ देते हैं कि जीवन है क्यों इस जीवन का उद्देश्य क्या है क्यों ये विभिन्न प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं वो अधिक से अधिक यहां तक देखेंगे कि जन्म हुआ है प्रकृति साथ में है तो इसका उपयोग करें और एक समय में शरीर छूट जाएगा इससे आगे कुछ नहीं और जो वेद से पृथक हैं बहुत से मत संप्रदाय इसीलिए वो केवल इस जीवन को मानते हैं इसके आगे जीवन वो स्वीकार ही नहीं करते अधिक से अधिक उन्होंने कुछ कल्पनाएं कर ली हैं स्वर्ग और नरक की लेकिन आगे इस जीवन का क्या होगा ये चेतन तत्व है क्या नहीं पता उद्देश्य क्या है और इस संसार की वस्तुओं को हम कितना भी जान लें और उससे कितनी भी सुख सुविधाएं खड़ी कर लें जब तक जीवन का लक्ष्य न पता हो उद्देश्य न पता हो तो उन वस्तुओं के उपयोग में उपभोग में हम अवश्य भूल करेंगे हमारे पास गाड़ी आदि साधन है हम उसे चलाना जानते हैं उसको रोक सकते हैं इच्छा अनुसार कहीं ले जा सकते हैं ये सब हमें पता है लेकिन ये नहीं पता है कि हमें जाना कहां है इस वाहन का उद्देश्य क्या है तो हम उसको कहीं भी चलाते रहेंगे लक्ष्य ही नहीं पता है तो चलाएंगे कहा चलाते रहेंगे तो भी लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते और त्रुटि करेंगे यही बात संसार के वस्तुओं के उपयोग की है इस शरीर के उपयोग की है इसका बोध केवल वेद के माध्यम से परमात्मा हमें प्रदान करता है मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है सामान्य मनुष्य इंद्रियों के सुखों को ही अपना लक्ष्य बना लेता है किस इंद्रिय से क्या सुख लिया जा सकता है क्या दुख की निवृत्ति होती है ये ज्ञान अच्छा है लेकिन इसके साथ एक बड़ी अविद्या जुड़ी है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है ये अविद्या अंधकार सबसे गहन अंधकार है और ये परमात्मा के द्वारा दूर किया जाता है तो हे अविद्यांधकार निर्मूलक और यदि ये पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है समझ में आ गया तो अब संसार की समस्त वस्तुओं का भले ही ज्ञान ना हो थोड़ा ज्ञान हो लेकिन उनका उपयोग व्यक्ति इतना अच्छी तरह करेगा कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा भले ही किसी के पास कार ना हो लेकिन साइकिल हो लक्ष्य पता लग गया है तो उस साइकिल का अथवा पैदल भी चल के अपने लक्ष्य को पा लेगा लेकिन लक्ष्य नहीं पता है तो भले ही हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हो क्या होने वाला है ये मूल की बात है और ये परमात्मा और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेद से हमें पता लगता है अनेक बार हम परमात्मा को सर्वज्ञ स्वीकार करते हुए समस्त ज्ञान का मूल स्रोत परमात्मा को स्वीकार करते हुए संसार में जो भी ज्ञान है वो परमात्मा से आया है इस बात को मन में बैठा लेते हैं अर्थात जो भी व्यक्ति जो भी कुछ जान रहा है वो ज्ञान परमात्मा उसे दे रहा है और इसको करते हुए हम ये मान लेते हैं कि आत्मा तो स्वयं जान ही नहीं सकता जितना भी ज्ञान है वो परमात्मा के द्वारा दिया गया जितना भी ज्ञान है वो वेद से आया है भले ही परंपरा से आया हो वेद के प्रति अत्यंत श्रद्धा के कारण से परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा के कारण से हम इन निष्कर्षों पर अपने को पहुंचा देते हैं ऐसी मान्यता बना लेते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है उसने वेद का ज्ञान दिया है हमारे को अंत प्रेरणा भी देता है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो भी जानते हैं हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो परमात्मा ही देता है हम परमात्मा की उस व्यवस्था को भी तो देखें कि उसने इंद्रियां बुद्धि प्रदान की हैं जिससे हम ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है ईश्वर और वेद के प्रति अति श्रद्धा रखते हुए अनेक बार हम ये कह देते हैं कि वैज्ञानिक भी जो कुछ जान रहे हैं वो ईश्वर का ही तो ज्ञान है ईश्वर ने ही तो उन्हें दिया है और मूलतः ये सब वेद से ही आया है जब अन्य लोग कहते हैं वेद सब ज्ञान के स्रोत हैं सब ज्ञान उनमें भरा है तो इन वैज्ञानिकों ने तो वेद नहीं पढ़े हैं ये इतनी इतनी खोजें कर लेते हैं बिना वेद को पढ़े तो जिन्होंने ये सोच रखा है कि वेद से ही सब कुछ आता है परमात्मा ही सब कुछ देता है तो फिर कहने लगते हैं कि इन्होंने भी तो अपने माता पिता गुरुजनों से पढ़ा सीखा है उसके आधार पर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ठीक है पिछला ज्ञान भी प्राप्त होता है पीढ़ियों से लेकिन अभी जो वैज्ञानिक ने नई खोज की है जिसको उसको किसी ने नहीं बताया था वो ज्ञान कहां से आया तो ईश्वर की भक्ति में वेद की भक्ति में हम कह देते हैं ये ज्ञान भी ईश्वर ने ही दिया है क्योंकि ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न हुआ तो ये दोष आएगा कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई लेकिन ये एकांकी दृष्टि है ये अति श्रद्धा में हम अंधश्रद्धा श्रद्धा में पहुंच जाते हैं परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है अभी मैं आपको देख रहा हूं आप मेरे को देख रहे हैं ये ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान परमात्मा नहीं दे रहा है ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हम भोजन करने बैठे सामने थाली आई थाली में क्या क्या चीज रखी है आज क्या बना है ये नेत्रों से हमें दिखाई देता है ये ज्ञान हुआ हमें ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया है ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है और दर्शनों में स्पष्ट है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उत्पन्न शब्द लिखा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है हाँ हम इसमें भी परमात्मा को अवश्य जोड़ सकते हैं कि ये ज्ञान हमें परमात्मा के दिए हुए साधनों से हुआ है ज्ञान उत्पन्न होता है ये हम सोचते हुए परमात्मा की अवहेलना नहीं कर रहे उसकी सर्वज्ञता को नकार नहीं रहे एक सत्य तक पहुंच रहे यथार्थता तक पहुंच रहे हैं हम इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करें कि परमात्मा ने हमें ऐसी बुद्धि और इंद्रियां प्रदान की हैं कि हम जान सकते हैं तो यद्यपि परमात्मा विद्यार्थ का प्रकाशक है ज्ञान देता है लेकिन समस्त ज्ञान वही देता है ये बात ठीक नहीं है और यदि हम मान भी लें कि सब ज्ञान परमात्मा ही देता है अंतकरण में देता है तो जो ये विपरीत ज्ञान आता है मिथ्या ज्ञान आता है ये कहां से आ जाता है ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है विपरीत ज्ञान है तो क्या हम ये मानेंगे कि ये भी परमात्मा ने दिया है तो ईश्वर भक्त ये तो नहीं मान सकता क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है मिथ्या ज्ञान से रहित है वो तो मिथ्या ज्ञान नहीं दे सकता तो बोले ये कैसे आ गया तो फिर वो दूसरे कुछ तर्क युक्ति रखते हैं कि आत्मा ने अपनी अज्ञानता से उत्पन्न कर लिया इंद्रियों से मिथ्या ज्ञान हो गया तो जैसे मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ऐसे सत्य ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है जैसे मृग मरीचिका में जल न होते हुए भी जल दिखाई दे रहा है तो ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है पहले नहीं पता था कि वहां जल है हमें दिखाई दे रहा है कि जल है वास्तव में नहीं है तो ये जो बोध हुआ ये उत्पन्न हुआ है इसी तरह से जब हम वास्तविक समुद्र के पास जाते हैं या तालाब के पास जाते हैं दूर से हमें दिखाई देता है या पानी है ये जो ज्ञान हुआ ये उत्पन्न हुआ है परमात्मा की सहायता से हुआ है लेकिन फिर भी ये सारा ज्ञान हमारे द्वारा उत्पन्न होता है हमारे प्रयत्न से उत्पन्न होता है फिर भी परमात्मा विद्यार्क का प्रकाशक है वेद के माध्यम से उसने ज्ञान दिया और अंतकरण में भी जो उस स्थिति में पहुंचते हैं उनको ज्ञान प्रदान करता है यदि हम परमात्मा को ही समस्त ज्ञान का देने वाला समझेंगे तो हम बस परमात्मा से प्रार्थना ही करते रहेंगे परमात्मा हमें ज्ञान दीजिए जब हम ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही समस्त ज्ञान दे रहा है इसका मतलब है हमारे प्रयत्न का वहां कोई स्थान नहीं है जब परमात्मा ही समस्त ज्ञान दे रहा है इसका मतलब है कि हम जान नहीं सकते कुछ भी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इंद्रियों से भी हम कुछ नहीं जान सकते परमात्मा ही देगा तो परमात्मा कैसे देगा हमें परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे केवल धियो यो न प्रचोदयात मात्र इससे परमात्मा ज्ञान को नहीं देता फिर हम कहते हैं कि नहीं प्रयत्न तो हमें करना होगा क्या प्रयत्न करना होगा हमने अनुसंधान करना होगा इंद्रिया उपकरणों का उपयोग करना होगा तो जब परमात्मा को ही ज्ञान देना है तो इनका उपयोग क्यों करना है इनसे क्या हो रहा है ये एक असमंजस की स्थिति आती है तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परमात्मा की तरफ से भी होता है और हम भी परमात्मा के दिए साधनों से उत्पन्न करते हैं और वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है हमारे द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है अब इसके आगे परमात्मा की भूमिका आती है हमने अपने प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया पूर्वजों के अनुभव से हमने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी कितना भी हम कर लें वेद को भी कितना भी पढ़ लें हो सकता है हम पूरा समझ ही ना पाए उसको हम गलत समझ लें तो परमात्मा के दिए हुए वेद ज्ञान को प्राप्त करके भी हो सकता है हमारे अंदर अविद्या रह जाए रह सकती है अंतिम अविद्या जो कि अंदर हमारे बैठती है वो परमात्मा की कृपा से समाधि में ही दूर होती है अन्य जो अविद्या दूर होती है एक सीमा तक हम करते रहते हैं और सतत प्रयत्नशील हैं लेकिन जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है वो अंतिम ज्ञान अंतिम समझ अंदर योगी के अंदर परमात्मा ही देता है वो उसे वो अनुभव करा देता है अपने आनंद का अपने ज्ञान का अनुभव करा देता है तो बाकी सारा संसार उसको हे प्रतीत होने लगेगा और वो बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाता है इस संसार की क्या वास्तविक स्थिति है तो परम पिता परमात्मा अविद्या अंधकार के निर्मूलक हैं अन्य उपायों से हम अविद्या अंधकार को थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं करना ही होता है हमें लेकिन जड़ से मिटाना है तो वो तो केवल और केवल परमात्मा है और विद्या अर्थ का वो प्रकाश जिसके सामने कहीं कोई अंधकार अविद्या ना रह सके सूर्य के उदय होने पर कोई अंधेरा नहीं रह सकता खुली जगह पे ऐसा जो ज्ञान है वो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है जब हम प्रयत्न करते करते परमात्मा के दिए साधनों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में करते समझ को विकसित करते हुए संसार में जीते हैं अनेक सीख सीखते हैं बोध को प्राप्त करते जाते हैं करते जाते हैं तब जब वो एक स्थिति आती है समाधि में तब परमात्मा उसको पूरा ज्ञान दे देता है और जिस दिन वो ज्ञान प्राप्त होता है उस दिन उस योगी के संस्कार भी दत्त बीज होते बिना परमात्मा की सहायता के अविद्या के संस्कार जड़ रूप में मूल रूप में जो विद्यमान है वो दूर नहीं हो पाते कितना भी प्रयत्न कर ले तो इस दृष्टि से अंतिम अविद्या को दूर करने वाला अंतिम शुद्ध ज्ञान देने वाला वह परमात्मा है और हमें परमात्मा की कामना सदैव इस रूप में भी करनी चाहिए मात्र हम अपने ऊपर निर्भर न रहें कि मैं सब कुछ जान सकता हूं और मैं ही जान लूंगा अन्य मनुष्यों के ज्ञान का उपयोग लेते हुए सब कुछ जान लूंगा इतने आत्मविश्वास में यदि हम रहे तो हमारी अविद्या पूरी समाप्त नहीं हो सकती और पूरी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती यही परमात्मा की विशिष्ट महत्ता है इसलिए महर्षि ने संबोधित किया परमात्मा को हे अविद्यांधकार निर्मूलक हे विद्यार्क प्रकाशक परमात्मा को ज्ञान की प्राप्ति का शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का आधार स्रोत स्वीकार करते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे Oh.